बाकी पुनः निवेदन है मौन रहना है आज बिल्कुल जो भी हो जाए बात नहीं करनी

बेल तोड़ा था या गिरा था पीछे बेल के दो बेल के दो से ढाई बजे दो से पैंतालीस ही रहेगा वैसे मेरा पहला है चश्मा क्या कर रहे हैं चश्मा चश्मा चश्मा वो मिल जाता तो कहीं जाने की जरूरत है तो देखिए मिल जाता उनको काम उसमें जो कवारी था ना उसको उठा के लाए बाहर करा कर पानी का उसी में लगा दिया उसको ज़्यादा कम से दिन उठा के रखे नौ के सवा नौ querem, a nos sueña que Dios no está porque quieren. No está con igual. No está con igual. No está con igual. No está con igual. Mm. দেখতে ভালো Om Purvasukasam Tuvarinam Prabhuti Vasidim Divinam से आठ पंद्रह तक समाप्त कर देंगे आठ पंद्रह से एक यदि पार होता है तो दोषी होगा प्रवक्ता का यज्ञ सुचाना होगा आठ बजे से सात पत्र में छोड़ना है आठ करने से आठ बजे के पहले अंदर में समाप्त नहीं करते हैं होता नहीं होता है अमेजिंग पहले सामान रख लें बाद में फिर कमरे जाके आएंगे सामान रख क्या कर बहन जी का भी रख लो अभी काम कर सकते हैं वैसे होने वाले में सामान रख के फिर आ जाते हैं गाड़ी है उनके पास अच्छा गाड़ी में सामान छोड़ देते हैं जहाँ पर है एक गाड़ी तो अपना गाड़ी आके लेगा बारह बजे गाड़ी में आए हैं वो अपने पास गाड़ी सिंगाड़ी किसी के लेकर आए हैं मेरा सामान उसी के अंदर है आपके सामने कमरे में रख लेंगे हाँ ठीक है वो गाड़ी लेकर आ जाएंगे यहाँ रख देंगे ठीक है फिर जब दोपहर में आप जाओगे व्यवस्था डी पी एस में लेकर तो फिर उस समय जाकर कर यदि फॉर्म अभी भरवाने पड़े क्या फॉर्म है कोई कोई जाती बात समय तो क्या फॉर्म भरना तो कौन स्थान स्थान कहाँ पर गाड़ी में बैठ जाए chapito, chapito, chapito, chapito, Mm-hmm. भोजन के बाद जाएंगे किसान का तोजा खिला दो तोजा दो तोजा दो लंबा खिला हम्म। दो तोजा दो लंबा खिला